मातृशक्ति ईश्वर की महती कृपा से हम अपने आर्यवन विकास में योग प्रशिक्षण का कार्य संचालित कर रहे हैं साधक के लिए योगाभ्यासी के लिए मनुष्य मात्र के लिए यह परिज्ञान आवश्यक है कि उसका ईश्वर के साथ क्या संबंध है ईश्वर के साथ हमारे संबंधों का परिज्ञान अवश्य कर लेना चाहिए एक ईश्वर का और हमारा संबंध है व्याप्य और व्यापक का परिज्ञान कर ले कि हम में से कौन व्यापक है और कौन व्याप्य है व्याप्य और व्यापक ये किस रूप में रहते हैं एक स्थूल भाषा में देखिए के गोले को अग्नि में तपाने के पश्चात उस लोहे के गोले में बाहर भीतर अग्नि विद्यमान दिखाई दे रही लोहे का गोला अग्नि के अंदर दिखाई देगा एक बहुत बड़े लंबे भट्ठे में लोहे का गोला डाल दिया जावे तो उस लंबे चौड़े भट्ठे में लोहे के घोड़े को हम अग्निवत देखेंगे वो ऐसा प्रतीत होगा जैसे ये स्वयं आग है लकड़ी को जलाओ उसका कोयला बिल्कुल विशुद्ध रूप में जब रहेगा धुमा रहित और वो लाल होगा तो वो कोयला जो बना हुआ है वो आप बिल्कुल आपको दिखाई देगा कि एक अग्नि ही है तो वो लकड़ी का कोयला जो है वो और जो लोहे का गोला है वो ये है व्याप्ति और अग्नि है व्यापक मोटी भाषा क्या है एक चीज उसके अंदर भी रहती है और बाहर भी रहती है जो अंदर भी रहती है और बाहर भी रहती है वह व्यापक है और जो अंदर अंदर रहती है वह व्याप्ति व्यापक और व्याप्य का परिजान होने से अनेक समस्याओं का समाधान हो जा होता है अन्यथा नहीं होता जब ईश्वर व्यापक है तो साधक ईश्वर को कहां पर ढूंढता है इसके ऊपर विचार कीजिए व्याप्य व्यापक का परिज्ञान में होने से साधक ईश्वर को ठीक रूप से ढूंढ नहीं पाता ये भूल बनी रहती है आप देखिए कि लोक में मोटे व्यवहार में जिस चीज को हम ढूंढते हैं वह प्राय हमसे दूर होती है ऐसा दिमाग बना रहता है अब ईश्वर को जब साधक ढूंढता है तो ईश्वर को अपने से दूर मान के ढूंढता जो नहीं जानता जो व्याप्य और व्यापक को नहीं जानता उसकी स्थिति यह बनी रहती है परीक्षण करके देखें आप प्राय आप में से लोग ऐसा अनुभव करते होंगे ध्यान व्यक्ति ईश्वर की गवेषणा करने वाला ईश्वर को ढूंढने वाला प्राय ऐसा दिमाग बनाता है जैसे कि ईश्वर दूर है और वो उसको प्राप्त करना चाहता है ध्यान अवस्था में देख ले आप क्या आपको अनुभूति होती है कभी ऐसी ध्यान नहीं देते आप क्या जो व्यक्ति पंद्रह बीस और पचास वर्ष से ईश्वर को व्यापक कहता चला आ रहा है संसार व्याप्य है ईश्वर व्यापक है पर संध्या में उसकी स्थिति प्राय ऐसी होती है कि ईश्वर कहीं दूर बैठा है और मैं उसको कहता हूं हे भगवान मुझे बुद्धि दे दो हे भगवान मुझे बल दे दो हे भगवान मुझे ये दे दो आनंदित कर दो जो मांगता है तो उनको कैसा उनका दिमाग काम करता है उनका दिमाग ये काम करता है कि भगवान जैसे कहीं दूर देश में बैठा हो और वो उसको बोल रहा हो आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं क्या जब आप ओम भूर्व को बोलते हो तो क्या भगवान को व्यापक मानते हो या कुछ दूर मानते हो आपको पता नहीं चलता हुँ? हम्म? आपका तो फिर वो ध्यान होगा कि लोग कहा करते हैं आज इतना अच्छा ध्यान लगा कुछ भी पता नहीं चला आपका ध्यान तो फिर वो होगा आपको ये पता नहीं है कि हमारी स्थिति क्या रहती है हम ध्यान में क्या सोचते हैं क्या भूल करते हैं आज ये पीछे तो आपकी हालत अवस्था यही रहेगी कई लोग देर तक बैठते हैं और देर तक बैठे उनको नींद आती है और नींद में लेते लेते उनसे पूछा जाए कि आज ध्यान में कैसी स्थिति रही वो कहते आज तो फोन एक घंटा तक कोई पता नहीं चला इतना अच्छा ध्यान लगा ये स्थिति पराय साधकों की होती है और दूसरी बात ध्यान से और सुन लो एक साधक ध्यान में बैठता है और ईश्वर से उसका कोई संबंध नहीं रहता क्या रहता है उसके मन में वो मंत्र बोलता है ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम और मंत्र बोल दिया और बीच में तात में टूट गया और दूर की बात सोचने लग गया एक दो मिनट जो हो तो कहने लगे तू तो कुछ और करने लग गया फिर कहता ओम शनो देवी रविष्ट आपो भवंतु पीत संयो रविष्ठवंतु न ऐसे दो चार मिनट या सेकंड में क्या करता है वो फिर और विषय में लग गया फिर लिया तो और कहीं लग गया अगले मंत्र आरंभ कर फिर और में लग गया आप ये देखेंगे वो जब तक संध्या समाप्ति होगी ईश्वर से कोई संबंध नहीं रहता उसका यही दौड़ धूप रहती है उसकी तो ध्यान दो और देखो व्याप्य और व्यापक का परिज्ञान व्यक्ति को कहां पहुंचाता है और किन किन भूलों को व्यक्ति दूर कर सकता है साधक की स्थितियों को पहले देख लीजिए साधक भूल करता है तो उसकी स्थिति क्या होती है वो दूर ढूंढता है ईश्वर को हम एक कल्पना करते हैं साधक आगे बढ़ता है या गुरु से सुनता है या पुस्तक में पढ़ता है तो उसको यह बताया जाता है कि देखो भगवान को वहां मत ढूंढा करो अपने बाहर भीतर ऊपर नीचे ढूंढा करो तो साधक की स्थिति बदल सकती है हम कल्पना कर सकते हैं वो साधक ऐसा जानने लगेगा ईश्वर तो मेरे शरीर के ऊपर नीचे बाए दाए सब जगह है ऐसा सोचना शुरू करेगा अब फिर भी ये भूल हो जाएगी वो शरीर के बाएं दाएं ऊपर नीचे तो भगवान को स्वीकार करता है पर शरीर में स्वीकार नहीं करता है ये उसकी भूल रहती है आगे बढ़िए साधक को बताया जाए सिखाया जाए अथवा वो स्वयं विचार करे या ऋषिकृत ग्रंथों से जाने कि देखो ईश्वर व्यापक है बाहर भी है भीतर भी है और मिलता है अंदर शरीर में ढूंढो अब वो व्यक्ति बाहर मानता हुआ आगे बढ़ता है कि बाय दाएं तो ठीक है ईश्वर रहता है पर ईश्वर जो है शरीर में ढूंढना ठीक है ईश्वर को तो उसने बाहर से हटा करके अपने मन को और शरीर में ईश्वर को ढूंढना आरंभ करता है फिर साधक से ये भूल होगी जीवात्मा जहां पर रहता है वो जीव को छोड़ देता है जीव को छोड़कर ईश्वर को खोजता है वो ये ऐसा क्यों होता है उसको व्यापक व्याप्य का ज्ञान नहीं है कल्पना कीजिए ये जीव का स्थान है जीव यहां रहता है और वो भगवान की गवेषणा खोज करना चाहता है जीवात्मा क्या करता है अपने स्थान को छोड़ देता है और ईश्वर को ढूंढता है आप सोचिए क्या ऐसे ईश्वर मिलेगा कभी हाँ जी मिलेगा या नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा अब आपको पता नहीं चला जा हम्म? नहीं पता चला मिलेगा हाँ तो उनका कथन है कि मिलेगा मैंने प्रश्न उठाया है फिर से सुनो अपने को छोड़ के बाहर भीतर बाहर वाले क्षेत्र में ढूंढने से ईश्वर मिलेगा या नहीं मिलेगा ये प्रश्न है नहीं मिलेगा अब क्यों नहीं मिलेगा वो इसलिए नहीं मिलेगा ईश्वर का स्वरूप ऐसा नहीं है यहां ईश्वर ना हो और बाहर हो जीवात्मा जो खोज करता है ईश्वर की उसका दिमाग उसकी बुद्धि गलत है अज्ञान है अज्ञान के माध्यम से ईश्वर को वो देखना चाहता है अर्थात जो ईश्वर सर्व व्यापक है अर्थात जहां जीव है वहां पर भी है और बाहर भी है तब तो ईश्वर का स्वरूप ठीक जाना गया जिस ईश्वर को मैं पाना चाहता हूं वह ईश्वर मेरे बाहर भीतर विद्यमान है और जहां मैं हूं वहां भी है और बाहर भी है तो वो ढूंढेगा इस दृष्टि से ईश्वर मैं जहां हूं वहां भी है और बाहर भी है इस अवस्था में आके उपस्थित करेगा अपने आप को तब ईश्वर को प्राप्त कर पाएगा अब ये परिज्ञान यदि मैं हो तो साधक सफल नहीं होगा ये बड़ी समस्या है उलझन है साधारण बात नहीं है व्यक्ति कई उलझनों को यहां पर खड़ी कर लेता है एक उलझन तो यही रहती है वो जीवात्मा ईश्वर को खोजने वाला अपने को छोड़ के ईश्वर को देखने की कोशिश करता तो ये उलझन जो कि तो बनी रहेगी जब तक वो इस स्थिति में रहेगा कि मैं ईश्वर को ढूंढू और अपने स्थान को छोड़ दे तो ईश्वर कभी नहीं मिलेगा चक्कर काटता रहेगा बड़ी समस्या फिर अपनी जगह तो ईश्वर को मानने लगता है तो अपनी सत्ता नहीं रहती दिमाग में अब बताओ क्या करेगा वो है हाँ जी अपनी जगह कणकण में ईश्वर को व्यापक मानने लगेगा तो अपनी सत्ता नहीं रहती ये समस्या खड़ी होगी कहां भागोगे है हाँ जी सूझबूझ एक ऐसी विद्या है एक ऐसा ज्ञान है ईश्वर में उसको गोता लगाना आना चाहिए ये उसका समाधान करता है खूब रोटी खा लेंगे मेरे दादा मैं भाषण दूंगा आप सोएंगे और लोग कहेंगे स्वामी जी आप इनको सोने के लिए बैठाते हो सुनने के लिए मैं का मुंह देख रहा हूं वहां तक कोई ऊट मोहले ही बैठा हो हाँ कभी ये सोचो वो दिख रहे सबसे पीछे ब्रह्मचारी जो हमारे गुरुकुल के आगे हैं वो बैठे आशुतोष जी ये वहां तक दिख रहा है कभी सोचो स्वामी जी के बाल सफेद दूर तक नहीं देखता <laughs> समस्या का समाधान गोता लगाने की विद्या सीखने को होता है ये गोता लगाना नहीं आता ईश्वर में गोता लगाना नहीं आता तो इस समस्या का समाधान नहीं हो पाता जब वो गोता लगाता है ईश्वर में गोता लगाते ही उसको व्यापक और व्यापक का परिजान होता है और गोता लगाना नहीं जानता तो वो डूबना नहीं तो व्याप्ति और व्यापक को नहीं समझ पाता जैसे समुद्र में गोता लगाता है व्यक्ति पंडुबी से लगाए थे वैसे जाएगा तभी तो अंतर स्थिति का पता चलेगा ना एक तो समुद्र के ऊपर तल पर रहता है तो अंदर का पता नहीं चलता उसको और गोता लगाता है तो नीचे की चीजें दिखेंगी उसको और स्वच्छ जल में देखा कभी आपने स्वच्छ जल जो कुंड का जल होता है बर्फ का जल होता है कश्मीर जैसे नगरों में ऐसे पहाड़ों से आया देखा कभी गोटा लगाओ और आंख खोल के देखो उस जल में तो दूर दूर की चीजें दिखेंगी आपको जल में और ऊपर से देखेंगे इतनी नहीं दिखेगी अथवा दिखेगी तो दिखती भी ही है की जितनी गहराई जाएंगे उतनी उतनी अंदर की दिखती जाएंगी ऊपर इतने चलते जाएंगे कम दिखती कम होती दिखती जाएंगी और यहां पर ध्यान देना यहां पर संसार जो है वो समुद्र के तल के समान है संसार जो है वो समुद्र तल को ऊपर मोटी गिधले पानी में देखने वाला अब उसको गिधला पानी लगा दो फिर दीदी के ऊपर वाले को गिधले पानी में मिट्टी वाले पानी में चंचल पानी में पानी की चीजें दिखाई नहीं देती और ये संसार रूपी जो है गला पानी जो है बुद्धि में बैठा रहता है गिदले पानी में हम जब तक रहेंगे तो वो समुद्र जो गिदले पानी में चीजें रहती है ईश्वर जैसी वो नहीं दिखती पहले व्यक्ति अज्ञान मलिनता मल विक्षेप आवरण दोषों को हटाता है व्यक्ति और संसार जो ऊपर हमारी बुद्धि को आगे नहीं बढ़ने देता व्याप्य और व्यापक जो दोनों चीजें रहती है व्याप्य का तो प्रभाव बहुत अधिक है व्यक्ति के ऊपर और व्यापक का प्रभाव कुछ भी नहीं है ये आपको दिखता है करदीप है दिखता है ये चीज है ना भार भी है रूप भी है इसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत अधिक है माथे में लगी तो तोड़ दे है इसके अंदर जो हवा है ना उसका किसी पर प्रभाव नहीं अब देखो इसमें जो आग है ना आग है उसका प्रभाव नहीं है जबकि ऐसे लगाते तो लकड़ी का हो तो धक कर जला देगी सबको लक्कड़ में आग देखी है या नहीं लक्कड़ का प्रभाव तो इतना है बस सर पर लग गया तो टुकड़े कर देगा और जो लक्कड़ में आग भरी है उसका प्रभाव कुछ भी नहीं व्यक्ति के ऊपर नहीं समझे आप व्यापक का प्रभाव कितना है व्यापक का ये तुलना कर लो क्यों जी बात सुन रहे हो या सोने की तैयारी कर रहे हो <laughs> लक्कड़ का कितना प्रभाव है लाठी का वो लाठी कोने में मैंने कहीं लाके खड़ी कर दी हो <laughs> वो कर रखी कोई आक्रमण हो जाए तो झटाझट उठा लेना उनको हाँ कभी सोचो स्वामी जलाने के लिए रखी ये हुआ पहले काम करने वाले का उद्देश्य समझ लेगा और ये भी सोच सकते हैं स्वामी ने इसलिए रखी आपस में झगड़ा हो जाता तो जल्दी जल्दी फोड़ो जल्दी ये भी उद्देश्य नहीं है दृष्टान दिया करते हमारे अर्जुन देव जी दिया करते कई बार कि भाई मूर्ख व्यक्ति काम तो करता है तो काम से लाभ क्या हुआ ये नहीं सोचता तो कैसे कि इन्हें कहा भाई वो एक गड्ढा है वहां और उसमें मिट्टी डाल दो वो किसी का पैर टूटे उसको भर दो गड्ढे को ठीक है उसने क्या किया अपने ही दरवाजे के पास वहां गड्ढा खोद करके और उस गड्ढे को भर दिया <laughs> क्या कहा मैंने भर दिया कहां से उठाई थी यहाँ अब भले देखी तुमने तो एक गड्ढा वहीं और कर दिया दो गड्ढा भर दिया अब ऐसा मत लेना इन बातों से अब अपने प्रकरण पर चलिए उन लक्कड़ों का कितना प्रभाव है व्यक्ति के ऊपर और उसमें जो तो अग्नि व्यापक है उसका प्रभाव कुछ भी नहीं है लक्कड़ लाखों का ढेर पड़ा हो ना वो उसका मूल्य उठाएगा उसे घर बनाएगा उसे भोजन बनाएगा कोई चोट लगे तो सिर को फोड़ देगा कितने उससे प्रभाव लेता है उस लक्कड़ से उसमें अग्नि है उसको कोई नहीं पूछता अग्नि को कोई नहीं पूछता इसमें अग्नि व्यापक है और उन्हें दिया सुनाई लगा दो अब फिर देखना क्या होता है क्या होगा लाखों मन का ढेर लक्कड़ का है एक डीएसएलआई लगाओ फिर देखना तमाशा अग्नि का पक्का वो अग्नि कहां से आ जाएगी है हाँ जी वो वहीं थी विद्यमान पहले से ही वो जग नहीं रही थी और जब जग गई तो लक्कड़ नहीं दिख रहा अब आग दिख रही है <laughs> वो कहता ये तो आग भगवान दिखता है तो लक्कड़ खत्म हो जाता है नहीं आई बात समझ में संसार रूपी लक्कड़ आग दिखने लगता है <laughs> आई बात समझ में अब तो जब ये अज्ञान को जला देता है अधर्म को हटा देता है गोता लगाता है तो लक्कड़ जो व्याप्ते व्याप्ते है वो डूब जाता है ईश्वर रूपी अग्नि में संसार सारा का सारा व्याप्ति वो ईश्वर में डूब जाता है और ईश्वर दिखाई देता है और संसार देखना बंद हो जाता है ये परिणाम निकलता है व्याप्य और व्यापक के जानने से होता है और व्यापक और व्याप्य की स्थिति देखिए व्यक्ति संसार में चक्कर काटता है दिन रात प्रातः काल से लेकर सायकाल तक बाहर की चीजों को देखता रहता है और बाहर की चीजों का उसके ऊपर इतना प्रभाव है इतना अधिक उसको प्रभावित करती है कि व्यक्ति को होश नहीं रहता दिन भर उसको शरीर भोजन वस्त्र मकान बाहर के भाई संबंधी भूमि सोना चांदी आदि आदि पर्वत और सूर्य आदि और हवा और वर्षा आदि तूफान इतना प्रभावित करते हैं वो भगवान नाम की चीज को बिल्कुल याद नहीं रखता इन सारी चीजों से प्रभावित रहता है ये समस्या साधक के सामने आती है वो कहता है कि संसार रूपी इस व्याप्य संसार का प्रभाव कैसे खो संसार का प्रभाव खो नहीं पाता और व्याप्य का प्रभाव उसको दबाए रहता है व्यापक का प्रभाव वो खत्म हो जाता है ये समस्या साधक के सामने बनी रहती है इसको हटाने की विद्या है समझना व्यापक को व्यापक समझना व्याप्य को व्यापक के नीचे दबा देना खत्म कर देना प्रभाव उसका हीन बना देना उसको ये उस साधक का काम है इसकी प्रक्रिया है आपने सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति परलय का चित्र देखा हो तो अब तक समझाना आरंभ तो नहीं किया हो तो फिर उसको कर देना चाहिए आप समझिए इस संसार व्याप्य संसार को व्याप्य वस्तुओं को जड़ चेतनों को हमें किस रूप में देख करके किस रूप में जान करके किस प्रकार से उसके प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं वो प्रक्रिया सारी की सारी ये होती है व्याप्य का प्रभाव हम जब समाप्त कर देते हैं तो व्यापक का प्रभाव उभर के आता है जैसे लकड़ी का दृष्टांत आपने सुना उसमें कभी देख सकते हैं आप व्यक्ति शरीर पर दृष्टिपात करता है शरीर को देखता है शरीर नाशवान है या नहीं धीरे धीरे उस परिणाम पर पहुंचता है ये शरीर नाशवान है अपने शरीर को देखता है फिर दूसरे को शरीर को देखता है कहता ये सारे शरीर नाशवान है अच्छा हां तो फिर आगे बढ़ता है साधक क्या ये सारे शरीर नष्ट हो जाएंगे समाप्त हो जाएंगे क्या हां समाप्त हो जाएंगे कैसे हो जाएंगे वो जब किसी व्यक्ति को मृत व्यक्ति को देखता है फिर जलने के पश्चात राख होने के पश्चात देखता है तो उसकी राख भी दिखाई नहीं देती इस दृष्टांत से वो समझता है जैसे ये व्यक्ति जीवित था मेरे सामने ये मर गया आज इसकी राख भी नहीं है जैसे इसकी आज राख भी दिखाई नहीं देती ऐसे प्रत्येक शरीर की हालत वही होनी है जैसे इस व्यक्ति की हुई है यह होनी अब ये भूतकाल की ओर दृष्टिपात करता है भूतकाल की ओर दौड़ लगाता है भूतकाल में अपने पिता को देखता है पिता के पिता को देखता है उसके दादा परदादा को देखता है वो चलता चला जाता है एक ऐसी स्थिति को ढूंढता है वो वहां पहुंचता है जहां संसार में एक भी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ था बुद्धि से दौड़ लगाता है उसके दिमाग में शत प्रतिशत बैठ जाता है कि एक काल ऐसा निश्चित रूपेण था जहां एक भी शरीरधारी मनुष्य पशु पक्षी नहीं था या पहुंच गया आने वाली प्रलय आने वाला विनाश उसको वो देखना चाहता है एक काल ऐसा आएगा वहां एक भी शरीरधारी प्राणी नहीं रहेगा बुद्धि को वहां ले जाता है वो अब आप सोचिए मनुष्य पशु पक्षी शरीरधारी वृक्ष आदि उसने समाप्त की है ईश्वर तो उस समाप्ति को देखा उसने जो प्रलय था जिसमें से तीस रचना आरंभ हुई थी वहां कोई नहीं दिखा उसको क्योंकि कोई था ही नहीं आने वाली प्रलय को ज्यादा बुद्धि में रखा आज उसको कोई नहीं दिख रहा कि आने के समय में ये रहेगा सारे समाप्त दिख रहे हैं उसको अपने शरीर सहित फिर साधक आगे बढ़ता है और सूर्य चंद्रमा पृथ्वी को देखना आरंभ करता है वो मन में लाता है कि क्या ये सूर्य चंद्र इतने बड़े लोक लोकांतर क्या कभी ये विनाश को प्राप्त होंगे या बने रहेंगे इसका उत्तर वो ढूंढता है कि निश्चित रूपेण सूर्य चंद्र लाखों करोड़ों अरबों खरबों जितने भी हैं ये निश्चित रूपेण विनाश को प्राप्त हो जाएंगे जब ये नहीं बना था ये संसार उसमें क्या ये सूर्य चंद्रमा पहले से चले आ रहे हैं या इनका प्रारंभ है ये प्रश्न उठाता है और उत्तर ढूंढता है एक काल ऐसा था मनुष्यों से आगे बढ़ जाओ पशु पक्षी के शरीरों से आगे बढ़ जाओ वो एक ऐसा काल था जिसमें सूर्य चंद्र आदि कुछ भी नहीं था वहां वहां दौड़ लगा इसी शरीर में बैठा हुआ सोच रहा है याद रखना आप ये व्यापक और व्यापक के परिज्ञान के लिए कितना आवश्यक है ये समझिए वो जब परले अवस्था में संसार था उस अवस्था को और जो परले आने वाला है उस अवस्था को दोनों को यहां लाके उपस्थित करता है कुछ कम समझ में आ रहा है क्या पुराने लोग तो कुछ अधिक समझते होंगे है जी दोनों प्रलयों को वो यहां लाके उपस्थित कर देता है दिमाग में बौद्धिक स्तर पर जो बौद्धिक स्तर पर वो प्रलयवत बनाता है संसार को तब वो ऐसा गोता लगाना आरंभ करता है गोता लगाना आता है ये है वृत्ति निरोध की स्थिति योगश्चित वृत्ति निरोध है अब अपने शरीर आदि को मिटा करके विश्व को समाप्त करके वो आकाशवत अवस्था में घूमता है बौद्धिक स्तर पर उसको कोई निर्मित वस्तु नहीं देख रही है बनी हुई वस्तु छोटी से छोटी भी नहीं देख रही है किन्तु एक बात का समाधान और करता है वो शंका उठेगी उसके लिए तो सत्यग्राही व्यक्ति है वो किसी को नहीं देख रहा उसका दिमाग ये कहता है मुझे सत्य बता दो मुझे कुछ नहीं चाहिए इस इस बुद्धि वाला व्यक्ति यही सोचता और कुछ नहीं सोच सकता मुझे सत्य चाहिए मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए ऐसे व्यक्ति का काम है ये दूसरी इच्छा रखने वाला इसको खोज नहीं कर सकता कभी अब वो शंका खड़ी हो जाती है उसके मन में कि ये संसार तो मिट गया खत्म हो गया क्या ये अभाव को प्राप्त हो गया क्या या रूपांतर हो गया ये शंका खड़ी होती है बड़ी कठिन शंका समझ में आई प्रलय हो गया खत्म हुआ इसका मतलब ये भी तो है ना अभाव हो गया तो उत्तर ढूंढता है वो जो सत्तात्मक चीज है कोई भी चीज क्यों ना हो कपड़ा हो जला दो कुछ भी कर दो आकाश में फेंक दो परंतु ध्यान देंगे आप उसके दिमाग से यह बात नहीं निकलती कि उसकी सत्ता खत्म हो गई वो कहता है सत्ता उसकी रहेगी कितना एडी से चोटी पर जोर लगाए कोई